हमने फरमाया ए दाऊद बेशक हमने आपको जमीन में अपना नायब बनाया है तो आप लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला कीजिए और ख्वाहिश की पैरवी न कीजिए तो वो आपको अल्लाह के रास्ते से भटका देगी बेशक जो अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं उनके लिए सख्त अजाब है इसलिए कि वो हिसाब के दिन को भूल गए